सुक्ति में केवल अज्ञान और दुख वृत्ति और सुख वृत्ति दोनों का अभाव परंतु अविषय रूप सुख रहता है तो विषय नहीं होता मालूम विश्राम पर वहां भी अज्ञान की वृद्धि है अच्छा ये आप छोटे से हो ऐसा आपको क्यों मालूम पड़ता है छोटा बना तो स्थान में होता है ना आपको क्यों मालूम पड़ता है कि आप नन्हे से हो छोटा होना या बड़ा होना ये स्थान में होता है और स्थान तो जब मन रहता है तब मालूम पड़ता है और मन नहीं रहता है तो मालूम नहीं पड़ता है तो मन के रहने से स्थान मालूम पड़ता है मन के न रहने से स्थान नहीं मालूम पड़ता तो स्थान मानसिक हुआ जहां मन ही नहीं है वहां तुम्हारे छोटे या बड़े होने का सवाल कहाँ है एक मिनट हुआ कि एक घंटा हुआ इसमें जब मन रहेगा तब मालूम होगा और मन नहीं रहेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा तो ये मानसिक हुआ ना काल में जो खंड है देश में जो खंड है ये मानसिक है मन से बनता है तो आप अपने को पैदा होने वाला और मरने वाला क्यों मानते हो बच्चा जवान बुढ़ा क्यों मानते हैं असल में जो चीज मालूम पड़ती है और जिसको मालूम पड़ती है तीन बात कर ले किताब मालूम पड़ती है और हमको मालूम पड़ती है तो हम किताब से अलग हुए ना हम किताब के दृष्टा किताब नहीं है किताब के दृष्टा तो आपको देश की मालूम पड़ता है इसलिए आप देश के दृष्टा हैं देश से अलग आपको काल मालूम पड़ता है तो आप काल से अलग हैं काल के दृष्टा इसका नाम विवेक है आपको वस्तुएं मालूम पड़ती हैं तो आप वस्तुओं से अलग हो वस्तुओं के दृष्टा आपको शरीर मालूम पड़ता है तो आप शरीर से अलग हो प्राण से अलग हो इच्छा से अलग हो कर्ता से अलग हो भोक्ता से अलग हो अज्ञान भी आपको मालूम पड़ता है तो आप अज्ञान से भी अलग हो तो दूसरा हमको देख रहा है मालूम पड़ता है जब तुम अपने को शरीर दे मान मानते हो तब तुमको दूसरा देख रहा है ऐसा मालूम पड़ता है जब तुम शरीर बन के बैठे तो दूसरा तुमको देखने वाला बन बन के बैठे जरा अपने को शरीर से ऊपर उठा दो शरीर से प्राण से मन से बुद्धि से सुख दुख से अज्ञान से अपने को ऊपर उठा उठा लो देखो तुमको कौन देख रहा है अरे बाबा तुमको कोई देख रहा है ये भी तुम देख रहे हो तो जिसको तुम देख रहे हो उससे तुम न्या रहे हो ये विचार चंद्रोदय की प्रक्रिया पहले ही है वो जैसे खट को देखने वाला खट का दृष्टा खट से न्यारा होता है वैसे एक आदमी है कि दो आदमी इस एक और दो दोनों को जानने वाला दोनों को देखने वाला दोनों से निराला है भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला भूत भविष्य वर्तमान से निराला है लंबाई चौड़ाई को जानने वाला लंबाई चौड़ाई से निराला है तो अयम एवं बंध दृष्टारम पश्य सीतरम आपको देखने वाला कोई दूसरा आदमी है पशु है पक्षी है देख रहा है ये आप तब कहते हैं जब अपने को हड्डी मांग चांद का पुतला मानते अच्छा कोई जोगी आपके मन को देख रहा है तो आप अपने को देखा हुआ कैसे मानते हैं जब आप अपने को मन मानेंगे तब अपने को देखा हुआ मानेंगे तो आपको कोई नींद में देख रहा है आपकी नींद को कोई देख सकता है लेकिन जहाँ देह की उपाधि नहीं है अलगाव नहीं है वहाँ न दूसरा आपको देख रहा है दूसरा माने कोई भी हो आप वो चीज है जिसको ईश्वर नहीं देखता है जिससे ईश्वर देखता है जिस ज्ञान से ईश्वर आपको देखता है वो ज्ञान आपका स्वरूप है जिस ज्ञान से सो ईश्वर आपको नहीं देखता वो भी आपके भोक्ता कर्ता अंतकरण प्राण शरीर आपके अज्ञान को देखता है तो, इतरम पश्य पश्यसी दृष्टारम इतरम पश्यसी देखो भाई ये ये संस्कृत का दाव पेज है इसको ये भाषा का दाव पेज है आप दृष्टा को दूसरा देख रहे हैं और आप दूसरे को दृष्टा देख रहे हैं इसको उद्देश्य विधेय भाव में परिवर्तन करके अर्थ करना बोलते हैं ये भी संस्कृत की एक रीति इतरम दृष्टारम पश्यसी तुम देख ये आदमी हमको देख रहा है इस जीवात्मा के हम दृश्य हैं इस ईश्वर के हम दृश्य हैं दूसरा कोई हमको देख रहा है क्या ये दृष्टा हमारा दृष्टा क्या दूसरा कोई है दृष्टारम इतरम पश्यसी इतरम का दृष्टारम पश्यसी हाँ। आओ एक की बात आपको खड़े अनेक मिट्टी एक लहरें अनेक पानी एक लपटे चिनगारियां अनेक आगे सांस अलग अलग हम सौगंध खाते हैं और आपको विश्वास तो न हो पर विश्वास न हो कुछ समझ लीजिए अकल से देखिए हम सब लोग अलग अलग रहते हैं पर ये कही हवा में से सांस ले रहे हैं कि नहीं हौकनी अलग अलग सांस अलग अलग है और मेरे प्यारे है ना हमारे महात्मा बोलते मेरी प्यारी आत्माओं आप ध्यान दो नाक अलग अलग है मुंह अलग अलग है भौंकने फूलने पटकने वाले अलग अलग हैं पर हवा तो एक है क्या आप हवा नहीं हो भौंकनी हो क्या आप वो टेम्परेचर नहीं हो जो इस समय आसमान का है तो वो टेम्परेचर हो जो अलग अलग शरीर में अलग अलग हो रहा है किसी को छानवे है किसी को सतानवे है किसी को सौ है एक सौ दो है एक सौ पांच है वो जो अलग अलग शरीर में अलग अलग टेम्परेचर है वो हो तो कि जो ऊष्मा है एक गर्मी तत्व है जिसमें ये टेम्परेचर शरीर के भेद से बनते हैं आप वो गर्मी हो नाक के भेद से अलग अलग सांस चलती है हवा है सिर दिमाग के भेद से आसमान अलग अलग मालूम होता है परंतु आसमान से और वो आकाश जिस मन में मालूम पड़ता है वो मन आकाश से बड़ा है उसमें न पूर्व है न पश्चिम है न उत्तर है न दक्षिण है न पहले है न पीछे है उसका नाम चित्ताकाश है वो चित्ताकाश और आप उस कल्पना को छोड़ो अलग अलग जीव हैं कैसे पाप के कारण अलग अलग हैं पुण्य के कारण अलग अलग हैं भोग के कारण अलग अलग हैं शरीर के कारण अलग अलग हैं अंतकरण के कारण अलग अलग हैं जीव अलग अलग क्यों है हमारे विद्वान लोगों बड़ा भारी आश्चर्य करते हैं इस बात का कि जन्म मृत्यु शरीर की होती है अंतकरण सबके संस्कारानुरूप अलग होते हैं और काम सब लोग अलग अलग करते हैं इनके कारण आत्मा अलग क्यों दूसरी चीज अलग अलग हो गए तो दूसरा अलग अलग क्यों शरीर अलग अलग होने से आकाश अलग अलग क्यों शरीर अलग अलग होने से चेतन आत्मा अलग अलग क्यों तो बाबा जिन मात्र वस्तु को ग्रहण करो कोई अलगाव एको विशुद्ध बोधो अब इति निश्चय वंदना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम बीत शोक स्थिति भव एको विशुद्ध विबोधो हम मैं एक एक ऐसा नहीं जिसमें एक बटे दो हो जाता है ऐसा एक नहीं ऐसा एक नहीं जो एक एक दो हो जाता है एक आचार्य ने व्याख्या की कि एक माने क्या होता है बोले भाई ये एक ही विद्वान है ये एक ही पहलवान है तो इसका मतलब यह तो नहीं होता दूसरा विद्वान नहीं दूसरे पहलवान नहीं ये विद्वानों में सबसे बड़ा है ये पहलवानों में सबसे बड़ा है एक कार ऐसा हुआ ना एक विद्वान है भाई एक बिल्कुल एक पहलवान है ये गामा है ये एक विद्वान है शिव कुमार शास्त्री है एक है एक वो नहीं एक माने जिसके बिना दूसरा होता है और जो दूसरे का कारण भी नहीं है एक एक दो भी नहीं होता एक बटे दो भी नहीं होता ऐसा है भाई मेरे अपने अंदाज से वेदांत का सोच लोगे कि सारा का मतलब ये है मतलब समझने वाले बहुत लोग होते हैं क्योंकि विवेक तो होता नहीं बोले एक घंटे व्याख्यान का क्या मतलब है तो आज किस विषय पर व्याख्यान हुआ बोले वेदांत पर हाँ हाँ वही वेदांत कौन सा वेदांत है जिसमें आत्मा को ब्रह्म बताया जाए समझ जाए एको विशुद्ध बोलो हम देखो आप पूजा करते रहोगे जप करते रहोगे संध्या बंदन करते रहोगे अग्निहोत्र करते रहोगे मंत्र जपते रहोगे तब तो ये बात समझ में रही और छोड़ दोगे तो नहीं आ करते रहोगे और समझते जाओगे तो कड़ी जुड़ी रहेगी रोज समझने की कोशिश जारी रहेगी और हाँ, नहीं तो बस एक ऐसी जगह आवेगी जहाँ भगवान तो छूट जाएंगे समाधि छूट जाएगी धर्म छूट जाएगा और वेदांत ही छूट जाए तो दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं है अभ्यास की कोई जरूरत नहीं अरे हम संत सुन चुके हैं जी कि हम तो ब्रह्म है ना मर गए बिल्कुल हो गए एको विशुद्ध हम इति निश्चय वंदना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतलोकस्तुति नम विशुद्ध बोध जैसे हमको ये फूल का बोध होता है फूल है तो एक तो ये हुआ बोध का विषय बोध एक तो है ज्ञान और एक है ज्ञान में फूल ज्ञान में फूल घुस गया ना तो ये है घड़ी है तो ज्ञान तो है कि घड़ी है ये ज्ञान है पर ज्ञान में घड़ी घुस गई कि नहीं तो दो चीज हो गई एक ज्ञान हो गया एक घड़ी हो गई एक फूल हो गया एक ज्ञान हो गया तो ज्ञान विशुद्ध नहीं रहा हो खिचड़ी हो गई खिचड़ी हो गई माने शक्कर और पानी एक में मिल गया शरबत बन गया दो चीज एक में मिल गई एक तो ये फूल और एक फूल का ज्ञान ये दो चीज हो गई ये विशुद्ध बोध नहीं रहा इसका नाम विशुद्ध ज्ञान नहीं रहा ये तो फूल से मिश्रित ज्ञान रहा घड़ी से मिश्रित ज्ञान रहा और एक ये ज्ञान मुझे है मैं जानने वाला हूँ हाँ, और हमारा हूँ ज्ञान में एक मैं मिल गया हाँ, एक ज्ञान ये है एक ज्ञान ये है एक ज्ञान ये है एक ज्ञान ये है हाँ, सबका जो अलग अलग मैं है ना अलग अलग मैं करोड़ों मैं अरबों मैं मैं मिल गया ज्ञान में अहम बन के और यह मिल गया ज्ञान में विषय बन के खड़ी बन के तो ज्ञान में मिला गया तो देश मिला काल मिला वस्तु मिली ये सब देखो ये सब बदल जाते हैं अभी घड़ी का ज्ञान हो रहा है किताब का ज्ञान हो रहा है फूल का ज्ञान हो रहा है घड़ी बदल गई किताब बदल गई भूल बदल गया ज्ञान एक ही रहा और मुझे ज्ञान हो रहा है तुझे ज्ञान हो रहा है उसको ज्ञान हो रहा है ये मैं तुम हुआ बदल गया और ज्ञान एक ही रहा तो विशुद्ध बोधो हम का अर्थ ये है जल्दी ध्यान में न आवे तो आप तो उबिएगा मत उगताइए मत एक बार दो बार चार बार हाँ। सुनने पर ये बात ग्रहण हो जाएगी ज्ञान में आपने दो चीज मिला दी एक तो उसमें अपना छोटा मैं मिला दिया और एक जो चीज ज्ञान से मालूम पड़ती है उसको मिला दिया असल में मैं को ज्ञान नहीं होता ज्ञान में मैं मालूम पड़ता है उलट लो ये लोग जिनको वेदांत का संस्कार है वो बहुत जल्दी इस बात को समझेंगे मैं को ज्ञान होता नहीं है ज्ञान में मैं मालूम पड़ता है क्योंकि देखो जब गार सुसुप्ति होती है ना तो मैं राम मालूम नहीं पड़ते रहे ये मैं हूँ मैं मैं सोहन हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं हिंदू हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं पापी हूँ बुढ़े आत्मा हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ कुछ भी तो मालूम नहीं पड़ता है ना तो ये सब जो मैं बने का खेल है ये ज्ञान नहीं है ये ज्ञान का विषय है जैसे कुल ज्ञान का विषय है ऐसे मैं भी ज्ञान का विषय है आप वो ज्ञान है जिसको फूल घड़ी किताब मालूम पड़ती है और आप वो ज्ञान है जिसमें आप अपने को पापी पुण्यमय को मैं को पापी पुण्यात्मा हिंदू मुसलमान ब्राह्मण सन्यासी है ना करता भोक्ता परिच्छिन्न मैं को आप जानते आप वो ज्ञान है और हाँ, विशुद्ध बोध हो हम हाँ, हमको एक शुद्ध जल देते हमको पीने के लिए शुद्ध जल देते तो आप शक्कर मिला के ले आए नहीं नहीं ये तो शुद्ध जल नहीं नींबू का रस और नमक मिला के लाए नहीं ये तो शुद्ध जल नहीं शहद मिला के लाए ये तो शुद्ध जल नहीं मट्ठा बना के लाए ये शुद्ध जल नहीं हमको शुद्ध जल चाहिए शुद्ध खालिश जिसमें कोई दूसरी चीज मिली हुई न हो जिसका नाम हुआ विशुद्ध बला तो जिस जिसमें गेय विषय न मिले देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत भला मतलब। छह बात ध्यान में रखने की है हमारी आदत छूट गई है असल में ये तो ये तो बचपन में समझने की और समझाने की बात थी हाँ, ये अब हमारा ये विषय समझाने का नहीं है अब तो समझते समझाते अब बुढ़ापे में आ गए ये तो अब जो नौजवान साधु होते हैं उनको चाहिए कि इस बात को समझावें पर ये तो अपने आप ही किताब पढ़ के महाराज पढ़ ली स्वामी राम तीर्थ की और विवेकानंद की और और दो चार व्याख्यान पढ़ लिए और हो गए ज्ञानी और उपदेश करने लग गए ऐसे नहीं बनता चुटकुला कहानी वो नहीं है शुद्ध बहुत तो देखो जैसे सजाती है बिजाती क्या होता है एक पीपल का पेड़ है और एक आम का पेड़ तो वृक्ष की दृष्टि से तो दोनों सजाती है वृक्ष लेकिन आम फल देता है और पीपल वैसा फल नहीं देता उसके पत्ते अलग आम के पत्ते अलग तने अलग फल अलग फूल अलग तो विजातीय भी वृक्षत वृक्ष रूप से सजातीय है और विशेष रूप से आम और पीपल ये विजातीय है अब आप देखो एक मनुष्य है तो वृक्ष विजातीय है आपकी जात का नहीं है और मनुष्य एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सजाती है अब उसमें भी महाराज जाति बना दो ये हिंदू है मुसलमान हिंदू तो मुसलमान जाति नहीं है वो जैसे जैसे जय हिंद बौ हिंदू सिख आज समाज सनातन धर्मी ये मजहब के भेद हैं सही वैष्णव ऐसे ये मुसलमान ईसाई भी मजहब के भेद हैं ये जाति का भेद नहीं है जाति तो उसको कहते हैं जो शकल देखते ही मालूम पड़ जाए ये आदमी है और ये पशु है ये गाय है ये भैंस है जाति उसको बोलते हैं अच्छा। आकृतिक ग्रहण आ जाते हैं हिंदू मुसलमान जाति नहीं है ये तो मजहब है मजहब पर हिंदू मजहब नहीं है तो इसमें तो सही एक मजहब है वैष्णव एक मजहब है जैन एक मजहब है बौद्ध एक मजहब है सिख एक मजहब है हाँ। अनेक मजहबों का समाज है ये बात अलग है वो इस पर बहुत शास्त्रार्थ हो चुका है जब कबीर बीच के शंकराचार्य संकेश्वर मठ के शंकराचार्य नासिक वालों ने जब एक विदेशी महिला को शुद्ध करके इंदौर के राजा से ब्याह करवाया था शर्मिष्ठा उसका नाम रख दिया और उस समय पंडितों में बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ हिंदुत्व क्या तो पचास वर्ष हो गए अब क्या सुना है आप हिंदू को छोटी वाला है गाय वाला है संध्या वाला है हिंदू क्या है हिंदू जाति है कि हिंदू धर्म है कि हिंदू समाज है कि हिंदू वर्ग है और बड़ा भारी शास्त्रार्थ देश के गिने चुने विद्वान उसमें करते हुए महामहोपाध्याय लक्ष्मण शास्त्री द्राविड महामहोपाध्याय पंडित पंचानंद कर्करत महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री महामहोपाध्याय बाल शास्त्री बचे बचे राजेश्वर शास्त्री का बड़ा भारी शास्त्र हिंदू कौन है देखो हिंदू के नाम पर मरने वाले बहुत हैं हो लेकिन हिंदू कौन है ये समझने वाले बहुत कम हैं आदिवासियों को तो रामकृष्ण रामायण महाभारत का पता ही नहीं है कि क्या होता है अपने को मानते हैं हम लोग जो हम्म। मानते हैं उसी का पता नहीं तो देखो गाय भैंस विजातीय है और मनुष्य सजातीय है अब मनुष्य में जो एक शरीर है उसमें भी भेद है चलने के लिए पाव है करने के लिए हाथ है देखने के लिए आंख है इसको स्वगत भेद बोलते हैं ये आपका जो विशुद्ध बोध है ना इसमें न गाय भैंस और मनुष्य का भेद है न पेड़ पौधा और मनुष्य का भेद है न मनुष्य मनुष्य का भेद है और न एक मनुष्य के शरीर में आंख का नाक जैसे होते हैं ऐसा भी इस ज्ञान में भेद नहीं है बोला गाय को अपने को अलग मानते हो कौन सी विशेषता लेकर के अलग अपने को मानते हो विशेषता तो दृश्य होती है तो न आप में पेड़ और मनुष्य के समान विजातीयता है और न मनुष्य मनुष्य के समान सजातीयता है न हाथ पांव के समान स्वगत अवयव भेद आपका आत्मा कितना लंबा चौड़ा है वो ना पाए कभी महाराज एक बार ऐसी परलोक बाद की हवा आई थी हमारे जीवन काल में ही आई थी वो फोटो लेते थे हाँ, मरने वाले आदमी को शीशे में बंद कर देते हाँ, और बोले कि देखो इसमें से जब जीवात्मा निकलता है तो शीशा फट जाता है बेवकूफी की हद हो गई बोले ये जीवात्मा निकल के जा रहा ये परलोक नाम की पत्रिका निकलती दिख रहे हैं इलाहाबाद से उस पत्रिका का नाम था परलोक तो फोटो छपते थे ये जीवात्मा शरीर में से निकली और ये उड़ी जा रही है ये मरने वाले आत्मा को बुलाया करते थे लोग तो हमारे एक मित्र ने अभ्यास कर लिया हो और प्लेन चट में बुलाते लिखवाते हैं बातचीत करवाते तो हमारे एक मित्र ने कहा कि अच्छा आओ हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते हैं हाँ हाँ और महाराज जिंदा आदमी की आत्मा को बुला लिया और लिखने लगा प्लेन चलने लगा हाथ से कल कलम जो है ना बिना हाथ से पकड़े बिना हाथ से पकड़े कलम चलने लगे नंदा जी के सामने एक आदमी आता था उस जाने हाँ, हाँ वो बिना हाथ से पकड़े कलम से लिखवा दे कलम अपने हाथ लिखने लगती तो हमारे एक मित्र ने कहा आओ बेटा अभी वो हमारा मित्र जिंदा है बोला गाओ बेटा हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते हैं और लिखवाना शुरू करते हैं उसमें है क्या तो वो लिखने वाले की जो मानसिक शक्ति है वो पास पड़ोस में बैठे हुए किसी भी आदमी को जो चीज मालूम हो जो दूसरे के मन की बात वो अपनी मानसिक शक्ति से अपने घेरे में ले लेता है और ऐसा मानसिक शक्ति का अभ्यास होता है जो लिखवाने लगता है अरे मेरे बाप हाँ हाँ देश काल वस्तु आपकी आत्मा कितनी लंबी चौकी है आप जानते हैं नहीं बना अमृत रस नहीं तो ये अंग्रेजी जो बाबू लोग है ना साइंसदान लोग हाँ, ये आत्मा को पकड़ते अगर लंबाई चौड़ाई होती तो पकड़ लेते हो मशीन से और उसकी बड़ी बना के मुर्दे के मुंह में डाल देते कि लो एक जीवात्मा डाला जिंदा अमृतसर अमृत रस की एक बूथ बना दे फालतू बिल्कुल फालतू बात है आप आप अपनी आत्मा की लंबाई चौड़ाई बताइए कितनी है अच्छा जी ये भूत भविष्य जन्म मरण शरीर का देखते हैं शरीर का होता है अपने आप में आरोपित करते हैं न देश है न काल है कथा आपका वजन कितना है बता दीजिए एक तो आप अपने शरीर का ही वजन नहीं बता सकते आसमान में तैरता है आदमी आपको मालूम है आदमी आसमान में तैरता है ये जब जैसे चंद्रलोक वगैरह में जाकर जाते हैं राकेट में तो राकेट में से बाहर निकल के हो आसमान में तैरते हैं वजन जब कब होता है तब राकेट में रखी हुई चीज एक जगह से दूसरी जगह हजार में उड़ जाती है ये वजन क्या है तो आप धरती पर हैं इसलिए आप में वजन है और यदि आप दूसरे वातावरण में हो तो आपके शरीर में वजन ही ना हो आपका क्या वजन है आत्मा का वजन नहीं होता आत्मा जड़ द्रव्य में होता है कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है ये गुरुत्व जो है ये गुण है स्वरूप नहीं है आप ये बात ध्यान में रख लें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ये गुण है संजोग विभाग पृथक ये सब गुण है गुण ये वस्तु के स्वरूप नहीं है तो हे भगवान आप जाति से अलग कोई दूसरी जाति नहीं है आपकी जाति के कोई आपसे दूसरा नहीं है और आप में ये हाथ पांव आदि जो अलग अलग बने हैं वो नहीं है, है? हाँ, हाँ। तब आप न शरीर है न प्राण है न मन है न बुद्धि है न जागृत है न स्वप्न है न सुचुप्ति है न निद्रा है न आप में लंबाई चौड़ाई है लंबाई चौड़ाई तो मन में न आपकी उम्र है ये भूत भविष्य तो आपके मन में है और हाँ, न आप में वजन है हाँ। आप ये आप में ज्ञेय नहीं है और आप ज्ञाता नहीं एको विरुद्ध बोलो अब समझ के मानो बहुत जाए और विचार करके मानो तो बहुत जाए बस शर्त एक ही है कि भजन करते रहना नहीं तो हम बताने वाले नहीं हैं हम अपना बताया हुआ वापस ले लेंगे खींच लेंगे वो आजकल तो लोग गाली देते हैं फिर वापस ले लेते हैं तो भाई हम अपनी बात वापस ले रहे हैं तो हम भी अपनी बात वापस ले लेंगे हाँ अगर आप सदाचार का पालन नहीं करोगे भजन नहीं करोगे तो हमारी बात आपके भीतर घुसेगी नहीं निकल आवेगी एको विशुद्ध बोधो हम एक निश्चय भक्त नाम एक निश्चय की आप प्रज्वलित करो क्योंकि आपके मन में विपरीत ज्ञान बन गए विपरीत निश्चय हो गया है जो आप नहीं हैं ऐसा आपने निश्चय कर रखा तो विपरीत निश्चय को दूर करने के लिए सत्य का निश्चय करना आवश्यक है अपने आप ही हो जाएगा अपने आप ही हो जाएगा ऐसा ही है ऐसा ही है बेवकूफी की बात है और तो वेदांत संप्रदाय का सत्यानाश करने के लिए कुछ वेदांत के विरोधी लोग पैदा हो गए हैं वो कहते हैं कि अपने आप हो जाए जब तुमने एक गलत निश्चय कर रखा है तो उस गलत निश्चय को माने प्राथमिक को अविद्या को अज्ञान को विपर्जय को दूर करने के लिए एक सही निश्चय करना पड़ेगा गलत निश्चय को दूर करने के लिए सही निश्चय की जरूरत होगी उसको वेदांत की भाषा में प्रमा बोलते हैं वेदांत रूप प्रमाण से प्रमा का उदय होता है यथार्थ निश्चय होता है यथार्थ निश्चय परमार्थ निश्चय और वो गलत निश्चय को जला देते हैं प्रज्वाल्या ज्ञान गहन दीप शोक सुखी भव ये अज्ञान के जंगल में भटक गए हो लगा दो आप सारे शोक तुम्हारे मिट जाएंगे सारे दुख मिट जाएंगे मरने के बाद आपको तो सुखी होना हो तो बेतरनी पार करने के लिए आप गाय की पूछ पकड़ के गोदान करना आप मरने के बाद बेतरनी में नहीं जाओगे बोला मान लेते हैं इस बात को यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना हो तो मजे से अन्नदान धनदान अन्नदान दान कन्यादान तुलादान स्वर्णदान सब करो सैकड़ों तरह के दान होते हैं हजारों तरह आपको स्वर्ग आपको वैकुंठ लोक में जाना हो पूजा पत्री कर लो एक दिन के निकुंज में जाना हो तो राधा कृष्ण के सहवास का मानसिक चिंतन कर लो नित्य निकुंज में जाओ हम मरने के बाद का सौदा नगद सौदा एक हाथ तो एक हाथ ये जो भ्रांतियां हैं ये जो अज्ञान हैं इनको भस्म करो अभी तुम्हारे सारे दुख अभी मिटेंगे सारे शोक अभी मिटेंगे शोक उसको कहते हैं जो पिछली बातें याद कर करके आता है दुख उसको कहते हैं कि जो अभी आपके दिल में तूफान बचा हुआ है पीछे के सारे दुख मिट जाएंगे इस समय के सारे दुख मिट जाएंगे अब लोग हमारे बच्चों भाई

विचारार्थ विलासहास सुषमा विश्वक्रमा विक्रमा सकला कला सकलाकलामवितनम् यस्मिन् मजहब का अपने नाम का निश्चय करते हैं सुन सुन के तत्वज्ञानी से सुन के निश्चय किया कि अज्ञानी से सुन के निश्चय किया प्रमाण पूर्वक विचार करके निश्चय किया है परंपरा से बिना विचार के आई हुई धारणाओं को सीखना आपका जीवन एक स्वीकृति पर एक मान्यता पर हमारे स्वामी जी स्वामी मनीषानंद जी मेषी प्रपातांध्र परंपरा शब्द का प्रयोग करते भेड़िया थका जैसे एक भेड़ के पीछे सभी भेड़ चलती है ऐसे आप कुछ अपने बारे में भी विचार करते हुए चलते हैं प्रमाण पूर्वक अपनी उसकी परीक्षा नहीं